कायावरोहण नामक महादेव का एक शुभ स्थान तीर्थ है जहां मुनियों ने माहेश्वर धर्मों का प्रवर्तन किया था वहां किया गया श्राद्ध दान तप होम तथा उपवास अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है वहां जो प्राण परित्याग करता है वह रुद्र लोक में जाता है एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जो कन्या तीर्थ इस नाम से विख्यात है वहां जाकर प्राणों का परित्याग करने से शाश्वत लोकों की प्राप्ति होती है जमदग्न के पुत्र अक्लिष्ट कर्मा परशुराम जी का भी एक शुभ तीर्थ है उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करने से हजार गोदान का फल प्राप्त होता है महाकाल इस नाम से विख्यात तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है वहां जाकर प्राणों का परित्याग करने से गाढ़पत्य पद प्राप्त होता है श्रेष्ठ नकुलीश्वर तीर्थ गुह स्थानों में भी अत्यंत गुह है वहां श्रीमान भगवान नकुलीश्वर विराजमान रहते हैं हिमालय के रमणीय शिखर पर स्थित अत्यंत सुंदर गंगा द्वार में शिष्यों से घिरे हुए महादेव देवी के साथ नित्य निवास करते हैं वहां स्नान कर ध्वज महादेव की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है और मृत्यु के बाद परम ज्ञान प्राप्त होता है देवाधिदेव शंकर का एक दूसरा शुभ तथा पवित्रतम स्थान है जो भीमेश्वर इस नाम से विख्यात है वहां जाने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है इसी प्रकार चंडवेगा नदी का उद्गम स्थान भी पापों का नाश करने वाला है वहां स्नान करने तथा जल का पान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है इन सभी तीर्थों में भी श्रेष्ठ तथा दिव्य वाराणसी नाम की पुरी हजारों कोटि गुना अधिक फलप्रदा है पूर्व में मैंने आप लोगों से उसके महात्म का वर्णन किया था योगी को भी वाराणसी के अतिरिक्त अन्यत्र एक जन्म में मुक्ति नहीं मिलती मनुष्यों के पापों को हरने वाले ये प्रधान प्रधान देश तीर्थ बतलाए गए हैं यहाँ जाकर सैकड़ों जन्मों में किए पापों का प्रक्षालन करना चाहिए जो अपने धर्म का परित्याग कर तीर्थों का सेवन करता है उसके लिए तीर्थ न इस लोक में फलदायी होते हैं न परलोक में प्रायश्चित्ति पत्नी से रहित विधुर पुरुष तथा जिनके द्वारा पाप हो गया है ऐसे गृहस्थ एवं इसी प्रकार के जो अन्य लोग हैं उन्हें पश्चाताप पूर्वक यथा शास्त्र तीर्थों का सेवन करना चाहिए प्रयत्न पूर्वक अग्नि अथवा पत्नी के साथ तीर्थों में जाना चाहिए ऐसा करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर यथोक्त गति उत्तम गति प्राप्त करता है अथवा तीनों ऋणों से मुक्त होने के बाद पुत्रों के लिए जीविका संबंधी वृत्त की व्यवस्था कर और अपनी पत्नी को उन्हें सौंप कर तीर्थ का सेवन करना चाहिए प्रायश्चित के प्रसंगवश तीर्थों के महात्मा का वर्णन किया गया इसे पढ़ने वाला तथा सुनने वाला भी सभी पातकों से मुक्त हो जाता है इत श्री कुर्म पुराणे खट सहस्त्रायाम संहितायाम उपर विभागे द्विचत्वारिंशो अध्यायः 45वां अध्याय चतुर्विध प्रलय का प्रतिपादन नैमित्तिक प्रलय का विशेष वर्णन विष्णु द्वारा अपने महात्म का निरूपण सूत जी ने कहा नारायण के मुख से कहे गए इस विशिष्ट ज्ञान को सुनकर मुनियों ने कुर्म रूप धारण करने वाले प्रभुदेव से पूछा मुनियों ने कहा सूत जी आपने विस्तार पूर्वक धर्म मोक्ष ज्ञान लोकों की सृष्टि के विस्तार वंश और मनमंत्रों को हमें बतलाया माधव भूत भव्येश जैसा आपने पूर्व में पुराण लक्षण के प्रसंग में प्रतिसर्ग के विषय में बतलाया है तदनुसार अब हमें प्राणियों के प्रतिसर्ग के विषय में बताइए सूत जी ने कहा तब उनके उस वचन को सुनकर कुर्म रूपधारी महायोगी भगवान ने भूतों के प्रति संचर अर्थात प्रलय का वर्णन किया कुर्म जी बोले इस पुराण में नित्य नैमित्तिक प्राकृत तथा आत्यंतिक इस प्रकार से चार प्रकार का प्रतिसंचर प्रलय कहा गया है लोक में यहाँ जो प्राणियों का नित्य क्षय दिखलाई देता है उसे मुनियों ने नित्य प्रलय के नाम से कहा है कल्पांत में ब्रह्मा की निद्रा के निमित्त से होने वाले तीनों लोकों के प्रतिसर्ग प्रलय को विद्वानों ने नैमित्तिक प्रलय कहा है महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत समस्त तत्वों का जो क्षय हो जाता है उसे काल चिंतकों ने प्राकृत प्रतिसर्ग कहा है और ज्ञान द्वारा परमात्मा में होने वाले योगियों के आत्यंतिक प्रलय को कालचिंतक द्विज आत्यंतिक प्रतिसर्ग प्रलय कहते हैं यहां साधन सहित आत्यांतिक प्रलय अर्थात मोक्ष का वर्णन किया गया है अब मैं संक्षेप में आप लोगों को नैमित्तिक प्रलय के विषय में बतलाऊंगा एक हजार चतुर्युग सत्य त्रेता द्वापर तथा कलयुग के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर प्रजापति समस्त प्रजा को आत्मस्थ करने की इच्छा करते हैं इसके बाद 100 वर्षों तक तीव्र अनावृष्टि होती है वह भूतों एवं सभी प्राणियों का विनाश करने वाली तथा अत्यंत भयंकर होती है तदंतर भूमि पर जो अल्पसार अर्थात निर्बल प्राणी होते हैं सबसे पहले उनका लय होता है और वे भूमि में मिल जाते हैं तब सात रश्मियों वाले रथ पर आरूढ़ होकर सूर्य उदित होते हैं उनकी किरणें असह्य हो जाती हैं वे अपनी किरणों द्वारा जल पीने लगते हैं उनकी वे सातों रश्मियां महासमुद्र में स्थित जल को पीती हैं उस आहार से उद्दीप्त होकर वे सात रश्मियां पुनः सात सूर्य बन जाती हैं तदंतर सूर्य रूप वाले सातों रश्मियां चारों दिशाओं तथा संपूर्ण इस लोक को अग्नि के समान दग्ध करने लगती हैं ब्राह्मणों प्रलयकालीन अग्नि के तेज से युक्त वे सातों सूर्य अपनी अपनी रश्मियों के द्वारा ऊर्ध्व तथा अधो भाग को व्याप्त कर अतिशय उद्दीप्त हो जाते हैं जल से प्रदीप्त अनेक सहस्त्र रश्मियों वाले वे सूर्य आकाश को आवृत कर स्थित रहते हैं और पृथ्वी को जलाने लगते हैं तदंतर उनके तेज से जलती हुई पृथ्वी पर्वतों नदियों समुद्रों तथा द्वीपों के साथ स्नेह द्रव भाव से रहित हो जाती है अर्थात अत्यंत सूख जाती है सतत प्रदीप्त रहने वाली वे रश्मियां ऊपर नीचे तथा आड़े तिरछे सभी ओर व्याप्त हो जाती हैं सूर्य रूप अग्नि के द्वारा प्रकृष्ट रूप से शोधित और परस्पर संश्रिष्ट संसार के समस्त पदार्थ एक ज्वाला के रूप में एकाकार हो जाते हैं तभी लोगों को नष्ट करने वाली वह सूर्य रूप अग्नि एक मंडल के रूप में होकर अपने तेज से इस संपूर्ण लोक को दग्ध करने लगती है तब संपूर्ण स्थावर एवं जंगम पदार्थों के लीन हो जाने पर वृक्षों तथा तृणों से रहित भूमि कछुए के पीठ के समान दिखलाई देती है किरणों से व्याप्त समस्त जगत अंबरीश जड़ भूजे की कड़ाही के सदृश वर्ण वाला दिखलाई देता है उन ज्वालाओं के द्वारा सभी कुछ पूर्ण रूप से प्रज्वलित होने लगता है तदंतर पाताल में तथा महासमुद्रों में जो प्राणी रहते हैं उनका लय होता है और वे सभी भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं सात सूर्यों के रूप में प्रदीप्त हो रहे प्रभु पावक अग्निदेव उन सभी द्वीपों पर्वतों वर्षों तथा महासमुद्रों को भस्मसात कर देते हैं समुद्रों नदियों तथा पातालों के संपूर्ण जल का शोषण करती हुई प्रदीप्त अग्नि सूर्य की ज्वाला पृथ्वी पर प्रज्वलित होने लगती है अर्थात पृथ्वी को जलाने लगती है तदंतर महान संवर्तक नामक अग्नि पर्वतों का अतिक्रमण करते हुए रुद्र के तेज से पुष्ट होने के कारण दीप्त आत्मा वाला होकर लोगों को जलाने लगती है संपूर्ण पृथ्वी को दग्ध कर वे अग्निदेव रसातल को शोषित करते हैं पृथ्वी के नीचे के भाग को जलाकर ऊपर के द्युलोक को जलाने लगते हैं उस संवर्तक अग्नि की शिखाएं सैकड़ों हजारों तथा दस हजार योजन ऊपर तक उठने लगती हैं तब काल रुद्र द्वारा प्रेरित होकर यह उद्दीप्त अग्नि गंधर्वों पिशाचों यक्षों नागों तथा राक्षसों को जलाती है कालाग्नि स्वरूप विश्वात्मा स्वयं काल भूलोक भुवरलोक स्वरलोक तथा महरलोक को संपूर्ण रूप से जला देता है इन लोकों में तिरछे तथा ऊंचे सब जगह अग्नि के द्वारा व्याप्त कर दिए जाने पर यह संपूर्ण जगत उस तेज से धीरे-धीरे पूरित होकर जलते हुए एक अयह पिंड लोह पिंड के समान प्रकाशित होने लगता है तदंतर हाथियों के समूह के समान नाद करने वाले विद्युत से अलंकृत संवर्तक नामक भयंकर मेघ आकाश में प्रकट होते हैं उन मेघों से कुछ नील कमल के समान श्याम वर्ण के कुछ कुमुद के समान श्वेत वर्ण के कुछ धूम्र वर्ण के कुछ पीत वर्ण के कुछ रासभ धूसर वर्ण के कुछ लाक्षा रस के समान कुछ दूसरे संख तथा कुंद पुष्प के समान रंग वाले कुछ जाति पुष्प चमेली के तथा अंजन काजल के समान कुछ मनहशिला मैनसिल के समान रंग वाले और कुछ दूसरे कपोत के समान वर्ण वाले कुछ इंद्रगोप वीर बहुटी कीट के समान कुछ हरताल के समान और कुछ इंद्रधनुष के समान वर्ण वाले मेघ आकाश में प्रकट होते हैं